ए हमारे परवरदिगार हमने एक मुनादी को सुना जो ईमान की तरफ पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ चुनाचे हम ईमान ले आए लिहाजा ए हमारे परवरदिगार हमारी खातिर हमारे गुनाह बख्श दीजिए और हमारी बुराइयों को हमसे मिटा दीजिए और हमें नेक लोगों में शामिल करके अपने पास बुलाइए